और जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुआ है तो चूंकि उन्होंने हक को पहचान लिया होता है इसलिए तुम उनकी आंखों को देखोगे कि वो आंसुओं से बह रही हैं और वो कह रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हम ईमान ले आए हैं लिहाजा गवाही देने वालों के साथ हमारा नाम भी लिख लीजिए